जो लोग उस रसूल की पैरवी करते हैं जो नबी उम्मी हैं जिन्हें वो अपने पास लिखा हुआ पाते हैं तौरा तो इंजील में वो नबी उन्हें अच्छे कामों का हुक्म देते हैं और उन्हें बुराइयों से रोकते हैं और उनके लिए पाकिजा चीज़ों को हलाल करार देते हैं और नापाक चीज़ों को उन पर हराम करते हैं और उनसे उनके बोझ उतारते हैं और वो तोक भी जो उन पर पड़े हुए थे बस जो लोग उन पर ईमान लाए और जिन्होंने उनकी ताजीम की और उनकी मदद की और इस नूर यानी कुरान की पैरवी की जो उनके साथ उतारा गया है यही लोग कामयाब होने वाले हैं